और मक्के के ये लोग भी बस एक ऐसी चिंगाड़ का इंतजार कर रहे हैं जिसमें कोई वफा नहीं होगा